न तो अल्लाह ने कोई बेटा बनाया है और ना उसके साथ कोई और खुदा है अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता और फिर वो एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते पाक है अल्लाह उन बातों से जो ये लोग बनाते हैं